अबू तैयाह से रिवायत है उन्होंने कहा मैंने अब्दुल्ला बिन हारी से सुना वो हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तु से हदीस बयान कर रहे थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मानंद रिवायत की इमाम मुस्लिम बिन हजाज रहमतुल्लाह ने कहा हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तु काबे के अंदर पैदा हुए थे और उन्होंने 120 साल जिंदगी पाई सही मुस्लिम हदीस नंबर तीन हजार आठ सौ उनसठ